www.attableek.com The Reviver of Iman ये सोच होती है लोगों के लिए अच्छा पैसा हो जाए तो हम खुशहाल है अच्छा मकान हो जाए तो हम खुशहाल है या अच्छी डिग्री हमारी हो जाए तो हम खुशहाल है ये लोगों का गणित होता है गुना का लोग ऐसे गिनते हैं लेकिन आपने बहुत सारे पैसे वाले देखे होंगे मार्केट में मार्केट में बहुत सारे आपने पैसे वाले देखे होंगे क्या हर पैसे वाले को खुशहाल देखा है आपने हमारे वहाँ एक हमारा दोस्त है उसके कपड़े का दुकान है तो उसने मुझे फोन किया कि बोला संजय भाई आ जाओ मेरे पास तो उनका भाई क्या काम होगा इसका उनका मैं छोड़ू तो नहीं जल्दी आप आ जाओ थोड़ा सा तो मैं चला गया तो उसके पास जाकर मैं बैठा तो उसने कहा कि ये हमारा ताजिर है अहमदाबाद से आया है कपड़ों का ताजिर है होलसेल ये मुझे मिलने आया है और मिलने आकर ये कह रहा है कि मैं खुदकशी करने वाला हूँ इसलिए आपसे मिला है तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि तो खुदकशी मत कर तो खुदकशी मत कर तो मतलब साहब आप भी इसको दो बातें समझो ये खुदकशी ना करे बहुत बड़ा ताजिर है होलसेल का कपड़ों का ताजिर है लेकिन खुदकशी कर रहा है वो क्या बात हो गई तो उसने अपना मसला समझाया कि मैं क्यों खुदकशी कर रहा हूँ तो मेरा एक बेटा है वो बेंगलोर में पढ़ता है एक बेटा है वो बेंगलोर में पढ़ता है लेकिन वो बेंगलोर में जाकर आवारा हो गया है तो अब मेरी बात नहीं मानता अब जिसके लिए मुझे जीना था वही मेरा नहीं रहा तो मेरे जी कर क्या मतलब तो उसकी जो सुकून का सुकून था वो खत्म हो गया उसकी खुशहाली खत्म हो गई है ना तो उसकी खुशहाली खत्म अब वो मर रहा है ये तो एक मैंने मिसाल दी ऐसे रोजाना आपको पचास सौ मिसाल मिलेगी महीने में नहीं रोज मिलेगी अखबार हिंदुस्तान के पढ़ोगे ना पूरे इंडिया के अखबार तो खुदकुशी करने वाले डॉक्टर मिलेंगे इंजीनियर मिलेंगे बड़े बड़े ताजर मिलेंगे रोज मिलेंगे माँ अपने चार चार बच्चों के साथ खुदकशी करती है आज मुझे किसी ने अखबार का वो भेजा कि माँ ने अपने चार बच्चों के साथ खुदकशी की मजदूर लोग बहुत कम खुश करते खुदकुशी करने वाले होते हैं मजदूर कम खुदकुशी करने वाले हैं साहिब हसीियत साहिब सरबत भी इंतजार लोग ज्यादा खुदकशियां करने वाले होते हैं तो इनसे पूछो तुम्हें क्या हो गया तुम्हारा तो घर अच्छा है तुम्हारी तो अच्छी डिग्री है और तुम्हारा कारोबार अच्छा है फिर खुदकशी तुम्हें करने की क्या जरूरत पड़ी दिल दिमाग का सुकून खत्म हो गया जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा तो जिंदगी मुख्तसर उन्होंने पहले पूरा कर ये मुख्तसर नहीं हुई है वो तो मरना ही था लेकिन अल्लाह ने उसके लिए जरिया बना दिया इस, बॉडी को सुकून अल्लाह ही देते हैं हमको अल्लाह ने बनाया है किसने बनाया है अल्लाह ने बनाया है इस, ये इसके ये कैसे निभेगी वो भी अल्लाह ही ने उसको बनाया है जो चीज जहाँ बनती है वो समझाता है कि कैसे निभेगी कारखाने में गाड़ी बनी कारखाने वाला समझाता है क्या समझाता है गाड़ी कैसे चलेगी गाड़ी से तुम कैसे फायदा उठा सकते हो वो कौन समझाएगा गाड़ी वाला कारखाने वाला मेरे जैसा आदमी नादान ये कहे मैं तो पचास लाख रुपए की गाड़ी लाया हूँ मैं कारखाने वालों ने जो बताया ऐसे नहीं अपनी मर्जी से इसको चलाऊंगा ऑयल की जगह पेट्रोल डाल दूँ पेट्रोल की जगह ऑयल डाल दूँ और ये उल्टा फुलटा कर दूँ तो गाड़ी चलेगी मैंने खरीदी अपने पैसे लगाए पचास लाख रुपए लेकिन गाड़ी नहीं चलेगी क्या उसको ऐसे ही चलाने से चलेगी जैसे बनाने वाले ने बनाई है और जैसे बनाने वाले ने बताया है सही गलत घर में छोटी छोटी चीजें प्रेस है पंखा है वो बनाने वाले समझाते हैं लाल वाया रिमो लगाने का और काला वाया रिमो लगाने का और फला वाया रिमो लगाने का बोला ऐसा होता है हम ये कहें कि नहीं हम तो इसको खरीद कर लाए हम तो अपनी मर्जी से फिट करेंगे उल्टा सुलटा चलेगा अरे बोलो भाई चलेगा सब मामूली पंखा नहीं चलता मामूली प्रेस मामूली बाइक नहीं चलती गाड़ियां नहीं चलती तो अपने मर्जी से ये बॉडी तो कैसे चल जाएगी अपने मर्जी से इतनी बड़ी बॉडी कैसे चल जाएगी मतलब हर आदमी ये चाहता है कि अपने मर्जी से इस बॉडी को चला ले कैसे चला ले बोलो अपने मर्जी से ये जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं हाईवे पर वो कानून के कानून के मुताबिक गाड़ी न चलाने से एक्सीडेंट होते हैं है ना घरों में जितने एक्सीडेंट है जितने भी एक्सीडेंट है छोटे बड़े वो इस बॉडी को ऐसे न चलाने की वजह से है जिस तरह इस बॉडी को चलानी चाहिए बॉडी कैसे चलानी वो अल्लाह जानता है इस बॉडी को कैसे चलानी वो कौन जानता है तो अल्लाह ने अपने दिन के रास्ते से इंसानों को समझाया कि बॉडी कैसे चलेगी एक घर में पांच बेटे हैं पांच बेटों के अलग अलग मिसाज है एक मीठा है एक कड़वा है एक फीका है एक गुस्से वाला है एक तीखा है होता है अरे बोला पांच भाई का एक सरखा मिजाज होता है पांच बहनों का सरखा मिजाज होता है तो भाई पांच भाई का मिजाज अलग पांच बहनों का मिजाज अलग अम्मी का मिजाज अलग अब्बा का मिजाज अलग अब सब कैसे साइड हो जाएंगे गुलदस्ता कैसे बनेगा वो वो वो वो गुलदस्ता दानी जो होती है ना वो लानी पड़ेगी उसमें रखो तो फिर वो होता है तो ये कौन समझाएगा कि किसमें रखने का अल्लाह ने अपने दीन के रास्ते से इंसानों को समझाया कि लोगों को कैसे मैनेज करने का लोगों को कैसे सेट करने का और फिर अल्लाह ने बात समझाई कि तुम ये मारखा यूं बनाओ फिर हम उसमें जान डाल देंगे मारखा हमारे जिम्मे किया कि तुम ये बनाओ ये बनाओ ये असबाब इख्तियार करो फिर उसमें जीव हम डाल देंगे कहके कौन सा जीव का मोहब्बत का जीव सगे भाई में मोहब्बत भाई बहनों में मोहब्बत कस्टमर और ताजिर में मोहब्बत पड़ोसियों में मोहब्बत जो आदमी जो चाहता है ना अल्लाह पाक ने उसका उसूल बनाया कि तुम मारखा तैयार करो उसमें हम क्या डाल देंगे सैयद रहमान वुद्दा अल्लाह कह रहे हैं हम मोहब्बत को भर देंगे तो मारखा बनाना हमारे जिम्मे तय किया अगर आदमी उस, उस ढांचे को तैयार ऐसे कर दे जैसे अल्लाह चाहता है तो फिर अल्लाह पाक उस ढांचे में बंदा जो चाहता है वो चीजें भर देता है हम मोहब्बत चाहते हैं तो अल्लाह मोहब्बत हमें देंगे हम जो चीज चाहते हैं अल्लाह पाक ने इन रिश्तों में वो सारी चीजें रखी है मान मर्यादा मोहब्बतें सारी चीजें रखी है लेकिन वो ढांचा उसको ऐसे खड़ा करना पड़ेगा जिस तरतीब पर अल्लाह चाहता है इसको है ना अगर इस तरह न चलाया जाए तो अल्लाह पुराना फरमाते हैं फिर तो उनके ढांचों को हम बिखेर देंगे क्या कर देंगे बोलो अल्लाह पुराना फरमाते हैं ननारदन जिक्री फलहू मीशतम धन का कि जो हमारी बातें सुनेगा उनकी जिंदगी को हम अजीरन कर देंगे अजीरन बिस्तर बिस्तर अस्त व्यस्त क्या कर देंगे बोलो पांच सगे भाई है और भाई से कह रहा है मेरे जनाजे में बताना तो ये क्या हो गया भाई भाई से क्या कहता मैं मरू मेरे जनाजे में सदा भाई बहन से कहता मेरे जनाजे में बताना तो क्या हो गया एक माँ की गोद में खेले हैं एक थाली में खाना खाया है एक माँ की छाती से दूध पिया है और भाई से भाई कह रहा है मेरे जनाजे में मताल बेटा माँ को डांट रहा है माँ बेटे को निजाम बरहम ये क्या हो गया ये कुछ नहीं जिस अल्लाह ने पैदा किया उसने सब किया है अस्त व्यस्त उसने किया है मोहब्बत भी अल्लाह डालता है और मोहब्बतों को फाड़ता भी कौन है दिलों को फाड़ता भी कौन है अल्लाह फाड़ता है तो उसके लिए बुनियाद क्या है कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह की जमीन पर हर मर्द औरत तमाम लोग जहाँ भी हों जिस शोबों में हों ऐसे रहे जिससे अल्लाह राजी होते हैं कैसे रहे बोलो अल्लाह राजी होते हों अल्लाह को नाराज करके कोई ना रहे घर में एक आदमी होता है घर में एक छोकरा घर के मेंबर दस पंद्रह है पांच दस पंद्रह मेंबर होते हैं वो घर का वो आदमी घर में ऐसे रहे जैसे घर के लोग चाहते हैं तो सब लोग उसको क्या देंगे प्यार मोहब्बत खुशियां देंगे घर का वो मेंबर घर वालों के मिजाज के खिलाफ रहे तो घर वालों में उसकी मोहब्बत आएगी तो क्या होगा घर वाले उससे चिड़ेंगे उसके उसके उससे कोई भी नहीं रहेगा क्यों ये घर के निजाम के खिलाफ जी रहा है बोलो सही गलत एक आदमी एक गांव में रहता है एक गांव में उस गांव में सब लोग एक सुकून की फिजा बनी हुई है लेकिन कोई घराना कोई फैमिली कोई खानदान गांव वालों के निजाम के खिलाफ ऐसी हरकतें करे जिससे गांव में जरासीम पैदा हो बुराइयां पैदा हो तो गांव वाले उसको पसंद करेंगे वो मरेगा तो गोरा का शुक्राने की दुआ पड़ेंगे कि चलो ये मर गया भला कही बोला ऐसा ही कहेंगे और अगर कोई ऐसा भला मानना चाहे भला आदमी माशरे में है कि जिससे लोगों में भलाइयां वजूद में आती है खैर सलामती वजूद में आती है अगर ऐसा आदमी माशरे का मर जाए तो उसके पीछे लोग क्या कहेंगे कि बड़ा अच्छा आदमी चला गया बोलो दुख दुख दुख का एहसास होगा नहीं होगा कि बुराइयों के साथ घर के लोग घर वाले को बर्दाश्त नहीं करते बुराई के साथ अगर कोई गांव में रहता हो तो उसकी बुराई के साथ गांव के लोग उसको रखने को तैयार नहीं अगर हम किसी मुल्क में रहते हैं किसी जिले में रहते हैं उस मुल्क और जिले में उस मुल्क के और जिले के कानून के खिलाफ हम रहें तो वहां की पुलिस हमको रहने देगी क्या करेगी हमें तलाश करेगी कि ये आदमी हमारे मुल्क का मुजरिम है हमारे गांव का ये मुजरिम है ये कहाँ है बोला तलाश करेगी नहीं करेगी हमें चैन से नहीं रहने देगी ये जमीन किसकी है ये जमीन अल्लाह की है ये जमीन पर अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई चैन से नहीं रहेगा अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मना आबादान देख रही फैन लहू भी शतन बनकर अल्लाह की धरती पर अल्लाह की जमीन पर चाहे कोई भी हो अल्लाह की मंशा के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा ना तो अल्लाह उसके जिंदगियों में मसाई को तो भर देंगे मसाई मसाइल और जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रहेगा वो जहां जैसे होगा अल्लाह उसको उस, उसके हाथ पकड़ लेंगे जैसे बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं ना उंगली पकड़ लेते हैं उसको चलाते हैं ऐसे अल्लाह के रहमो करम में वो बंदा आ जाता है किसके रहमो करम में बोलो अल्लाह के रहमो करम में आ जाता है अल्लाह के अल्लाह के रहमो करम में वो बंदा आ जाता है इसलिए हजूर वाली मेहनत के रास्ते से इंसानों को ये बात समझी और समझाई जा रही है ये जितना मजमू से बात हो रही है वो इसी की कि अपनी अपनी जगहों पर अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजारो अल्लाह को नाराज न करो तो जैसे और सारे मजमू से ये बात होती है ऐसे आप तलबा से भी हो रही है आप तलबा से खसूस बात हो रही है <coughs> स्टूडेंट से क्यों बात हो रही है कि आप आप आप इस उम्मत का सरमाया हो आप इस उम्मत की पूंजी हो आप जिन तालीमों को हासिल कर रहे हो जिस तालीम को हासिल कर रहे हो आप अभी बच्चे हो लेकिन कल बच्चे नहीं होंगे कल आप समाज के बड़े बन जाओगे कल आप आइंदा कल आप कौम के बड़े बन जाओगे कौम के बड़े बनोगे समाज के बड़े बनोगे आपके मातहती में ये सारी कौम जिंदगी गुजारेगी हमारे जरा फरमाते थे कि ये ये हजरत उम्मत का दिमाग होता है उम्मत का क्रीम मजमाई होता है कौमें आपके पीछे होती है अगर आपकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि जैसी पढ़ाई मतलूब और मकसूद है तो फिर हमने हमारा एक एक बच्चा हमारा एक एक बच्चा अपने लिए और हजारों लोगों की जिंदगी के लिए भलाई का जरिया बन जाता है बना हुआ लोग लोगों को बनाते हैं कौन से लोग लोगों को बनाते हैं बोलो बने हुए लोग लोगों को बनाते हैं बिगड़े हुए लोग नहीं बनाते ये सूरज उसके अंदर रोशनी है ठीक है एक मरतबा सूरज निकलता है एक मरतबा निकलेगा तो पूरी दुनिया को क्या करेगा रोशन कर देगा लेकिन वही सूरज अंधा हो जाए उसकी रोशनी खत्म हो जाए बेनूर हो जाए तो सूरज अंधा बेनूर हो गया अब वो सूरज एक मरतबा निकला तो दुनिया रोशन हो जाएगी बगैर रोशनी का सूरज वो सूरज दस मरतबा निकले लेकिन बगैर रोशनी का तो रोशन हो जाएगा दुनिया रोशन होगी अभी एक सूरज है लेकिन रोशन है तो पूरी दुनिया को रोशन करती है इसी सूरज को अंधा करके दस मरतबा निकालो तो दुनिया रोशन होगी ऐसे दस सूरज बना लो ऐसे सौ सूरज बना लो ऐसे एक हजार सूरज बना लो और दुनिया को कहो कि टुलू हो जाओ हजार मरतबा ऐसे हजार सूरज निकले लेकिन बगैर रोशनी के तो दुनिया रोशन हो जाएगी क्यों उसके अंदर खुद रोशनी नहीं है बने हुए लोग लोगों को बनाते हैं आप हजरा सारे के सारे अभी बनने के माहौल में हो पढ़ाई का जमाना जो होता है वो बनने का जमाना होता है कौन सा जमाना बोलो बनने का जमाना पढ़ाई के जमाने में अगर कोई अच्छा बन गया तो उसको फिर कोई खराब नहीं करता और बनने के जमाने में जो कोई खराब हो गया उसको कोई अच्छा नहीं कर सकेगा बनने का जमाना संभालने का जमाना होता है कौन सा जमाना बोलो माँ के पेट में बच्चा बनता है सही गलत जो बच्चा माँ के पेट में बनता हो बनने के जमाने में उसका पैर टेढ़ा हो गया उसकी आंख भेंगी हो गई उसका आंख लूला हो गया उसके दिमाग में कमजोरी रह गई और ऐसा ही पैदा हो गया आप बगैर आंख का पैदा हो गया बगैर टांग का पैदा हो गया बगैर आपका अब पूरी फैमिली डॉक्टरों के पास लेकर फिर रही है कि हमारा बच्चा ऐसा हो पैदा हुआ है और इस बच्चे के हाथ दे दो पैर दे दो इसकी आंख लगा दो इसका दिमाग सही कर दो तो सारे सारे डॉक्टर मिलकर उस बच्चे को ठीक कर देंगे भाई अरे बोलो भाई ठीक कर देंगे क्यों क्या बात हो गई कि बच्चा उस जगह पर खराब हुआ है जिस जगह पर इसको अच्छा बनना था ये बनने के माहौल में खराब हो गया अब इसके बनने की और कोई जगह नहीं इसको अब कोई नहीं बना सकेगा भाई रोटी कहाँ बनती है रोटी कहाँ बनाने की होती है तवे पर सेकने की होती है तन्नूर में लेकिन जो रोटी उसके बनने की जगह पर खराब हो गई तवे पर ही खराब हो गई तन्नूर में ही जल गई अब रोटी जली हुई बाहर ले आए हम अब उसको रिपेयर करो रिपेयर हो जाएगी जली हुई रोटी अरे भाई क्या हो गया कहीं ये रोटी उस जगह खराब हो गई इसको जहां अच्छे बनना था बोलो सही गलत तो बनने के माहौल में जो जो चीज खराब हो गई फिर उसके बनने की और कोई जगह नहीं हो पाती आप हजरात सारे के सारे आप बनने के माहौल में हो तो एक आदमी अच्छा बन जाता है तो उसके साथ हजारों लोगों को वो अच्छा बनाता है और आप सबका भावी ऐसा ही है आपके साथ मजबे जुड़ेंगे आपके साथ कौन जुड़ेंगे अगर आप एक पढ़ने के बाद एक स्कूल के उस्ताद बन गए एक स्कूल में उस्ताद बन गए ठीक है तो आप मान लो 20 बाईस साल की उम्र में सर्विस में लगोगे साठ साल की उम्र में रिटायर होंगे तो कितने साल सर्विस करोगे चालीस साल अब चालीस साल तक आप आपसे उम्मत के बच्चे गुजर गुजर कर जाएंगे ये ये खेप गई दसवीं की ग्यारहवीं की बारहवीं की फला फला हर साल एक खेप आपसे पढ़कर गुजरेगी बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ क्या आपसे बच्चे गुजरेंगे अब ये खेत आपकी आप जो उनको तालीम दोगे वही उनका जहन बनेगा वही उनकी सोच बनेगी वही उनकी फिक्र बनेगी वही उनके जज्बात बनेंगे हाँ इस जमाने उस्ताद को गुरु कहते थे गुरु क्या कहते थे गुरु शिष्य और गुरु दो दो दो जुमले इस्तेमाल होते थे कि ये गुरु ये तो नई नई नई जबान आ गई तो नई जबानों ने हमारा अदब खत्म कर दिया क्या खत्म कर दिया उस्ताद एक बड़ा अदब वाला जुमला था है ना हाँ अब एक अच्छा अच्छा बना हुआ तालब इलम अगर उस्ताद बना तो उसके पास ये पढ़ने वाले बच्चे ये इनको अमानतदारी से पढ़ाएगा फिर ये बच्चों को अमानतदारी से पढ़ाने के साथ इसको अपनी आखिरत समझेगा कि ये बच्चे अगर अच्छी तरबियत इनकी हो गई तो ये बच्चे भी आगे जाकर कुछ ना कुछ बनेंगे तो फिर ये पता नहीं मुख्तलिफ शोबों में जाएंगे वहाँ अमानतदारी को दयानतदारी को पता नहीं किन किन चीजों को जिंदा करेंगे एक आदमी वकील बन गया अगर पढ़ने के माहौल में उसको अच्छी फिजा मिल गई और उसने अपने आप को अच्छा बनाया अब जब वकालत की कुर्सी पर वो बैठेगा तो वो अमानतदारी के साथ वकालत करेगा बयानतदारी के साथ वकालत करेगा खयानत उसके पास नहीं होगी उसको दो नफे होंगे एक नफा उसको ये होगा उसके जरिए से उम्मत को राहत पहुंचेगी उसको उम्मत उसके जरिए से उम्मत में क्या पहुंचेगी मतलब एक तो राहत उसको पहुंचेगी दूसरा क्या होगा उसकी कमाई के नक्शे हलाल हो जाएंगे अब एक आदमी वकील बन गया लेकिन उसके अंदर अमानतदारी नहीं आई दयानतदारी नहीं आई अब वो वकालत कर रहा है वकालत में उसकी हिमायत कर रहा है जो ज्यादा पैसे दे रहा है चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो अगर वो सच्चा है तो तो ठीक है और अगर वो गलत है और उसकी हिमायत कर रहा है तो इसकी कमाई कैसी हो जाएगी आराम क्यों जाएगी एक डॉक्टर एक, एक बच्चा डॉक्टर बना लेकिन इस इन चीजों को जो सीखने की है उसको सीखते हुए डॉक्टर बना तो उसके पास जो पेशेंट आएगा उसके साथ वो क्या करेगा मानव दरी से पेश आएगा कि इसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है वो इंजेक्शन नहीं देगा उसको बोतल चढ़ाने की जरूरत नहीं है तो बोतल नहीं चढ़ाएगा तो इससे इसके जरिए से उम्मत को राहत पहुंचेगी और दूसरा उसके कमाई के नक्शे हाल होंगे बोलो होंगे नहीं होंगे और अगर उसने ऐसा नहीं किया जैसी अपनी तरबियत करनी चाहिए ऐसी तरबियत नहीं की अब वही डॉक्टर बना वही वकील बना अब उसके अंदर दो चीजें नुकसान की होगी एक तो इसके अंदर खयानत पैदा होगी खयानत और खयानत इतना बड़ा जुर्म है इतना बड़ा जुर्म है तो उसके बाद ईमान भी आदमी का नहीं रहता अमानतदारी नहीं है तो ईमान भी नहीं ला ईमान अल्लाह लेमन ला अमानत अला कि जिसके अंदर ईमानदारी नहीं रहती उसका ईमान भी नहीं रहता अमानतदारी है ये ये सारी चीजों को सीखने का जमाना ये जमाना और दूसरा उसके जरिए से जो मखलूक को नुकसान होगा और मखलूक को जो नुकसान पहुंचाता है अल्लाह को सबसे प्यारी जो मखलूक है जो सबसे वाली ये हजूर की उम्मत है अलखल क्वायाल्ला ये पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है अल्लाह का कबीला है अल्लाह का कुंबा अल्लाह कह रहे ये सारा मेरा कुंबा है अल्लाह को तो सबसे अच्छा आदमी वो पसंद है जो अल्लाह के बंदों को नफा पहुंचाए खैर उन्नास मन उन्नास लोगों में अच्छा आदमी वो जो लोगों को नफा पहुंचाए अब वो उसका रास्ता कट गया लोगों को नफा पहुंचाने का रास्ता कट गया उसके अंदर स्वार्थ आ गया लालच आ गई उसके अंदर क्या आ गया बोलो स्वार्थ और लालच आ गई अब वो लोगों को नफा उठाने का रास्ता इसने बंद कर दिया अब जब नफा नहीं नहीं पहुंचाएगा तो क्या पहुंचाएगा तो उसके अलावा किस चीज पहुंचाएगा काला नहीं होगा तो सफेद होगा सफेद नहीं होगा तो काला होगा रात नहीं तो दिन दिन नहीं तो रात तो इसके अंदर कहां से आया तो ये पढ़ने के जमाने में कच्चा माल रह गया कच्चा खाना चबाया नहीं जाता कच्चा खाना पेट में हजम नहीं होता कैसी बनने के जमाने की कच्ची जिंदगी हाँ, जिंदगी भर नड़ती है क्या नड़ती है बोलो जिंदगी भर डगले न पगले वो नड़ती ही नड़ती है मुसीबत के असबाब अपने लिए पैदा करती है तो क्या करना है कहा हमारे वहां पढ़ना गुनाह नहीं है अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहिए हमारे वहाँ ताजिर बनना गुनाह नहीं अच्छे से अच्छा ताजिर बनना चाहिए और हमारे वहां प्राइम मिनिस्टर बनना गुनाह नहीं दीनदार बनने के लिए अल्लाह का फरमा बरदार बनने के लिए कोई चीज छोड़ना नहीं कारोबार नहीं छोड़ना तिजारतें नहीं छोड़नी और किसी को अहदा कुर्सी मिले वो नहीं छोड़ना साहबा में सारी चीजें थी साहबा बड़े बड़े ताजिर थे और साहबा वजीर थे वजरा थे सीएम और पीएम थे हजरत उमर इतने अब्दुल अजीज बाईस लाख मुरब्बा मील जमीन के बादशाह थे आधी दुनिया के तीन बर्र आजमों पर उनकी हुकूमत थी तो हमारे वहां कोई चीज बनना गुना नहीं है सारी चीज जो अल्लाह तुमको बनाए सब बनो लेकिन ऐसे बनो कि अल्लाह की नजर से न गिर जाओ कैसे बनो बोलो हमारे इतने अब्दुल अजीज तीन बर्र आजमों के बादशाह थे जब उनका इंतकाल हुआ दो साल हुकूमत उन्होंने की आसमान से एक पर्चा गिरा उस पर लिखा हुआ था बड़ा अतुल उमर इबन अब्दुल अजीज अमीनार तो उमर इबन अब्दुल अजीज के लिए अल्लाह की तरफ से ये परवाना है कि हमने उसको जहनम से बचा लिया कि कोई चीज कोई बने कोई तो उससे बुरा नहीं लेकिन ऐसा बने कि वो अल्लाह की नजर में बाहर जाए अल्लाह की नजर से गिर जाए ऐसा ना बने तो इसके लिए क्या करना इस पढ़ने के जमाने को संभाल लो इस पढ़ने के जमाने को संभाल लो आप अपने आप को बच्चे ना समझो तुम छोटे नहीं हो तुम्हारी पंद्रह साल की उम्र हो गई ना पंद्रह साल की उम्र अब तुम बड़े बन गए हो तुम्हारा एक एक चीज फरिश्ते दिखते हैं तुम्हें ऐसा लगता होगा अभी हम बच्चे हैं बाद में देख लेंगे बचपन की आदतें बचपन तक चलती है अपने वहां कहावत है पढ़े हुई आदत पाल ले जाए नहलाने का पाटला होता है ना वहां जाती है फिर अपने आप को हमें इसी माहौल में बच्चे नहीं समझना अपने आप को कुछ चीजों का आदि बनाना है बच्चे समझकर आंख विचली मत कर लो शरीयत ने तुमको मुकल्लफ कर दिया तुम्हारी हर बात नोट हो रही है नोट किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून फरिश्ते हर बात को देख रहे हैं मा यलफिजु मिन कौलिन इल्ला लदयहि रकीबुन फरिश्ते तुम्हारी बातों को नोट कर रहे हैं तुम जबानों के तुम्हारी जबानों के बोल नोट हो रहे हैं अब बच्चे माँ बाप की एक जिम्मेदारी थी पंद्रह साल तक अब तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर है इसको भूल मत जाना अभी हम जो कुछ अच्छा बुरा करेंगे अच्छे बुरे का नतीजा हो सकता है अभी के अभी मुझे न मिले लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के वहां भुला दिया जाएगा मैंने अपने बचपन से गलतियां करना शुरू की बालिग होने के बाद से तो जब उसका वक्त आएगा ना तो मुझे उसका भुगतना पड़ेगा अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मैं नाम फालहन फले नफ से हर आदमी को उससे अच्छे किए का हम बदला देंगे और जिसने गलत काम किए होंगे उनको उनका भुगताएंगे उसको उसका भुगतना पड़ेगा कमा तदीनो तोदानो जिसने जो किया होगा उसके वक्त पर उसको अंजाम देखेंगे मिसाल के तौर पर ये उम्र मेरे माँ बाप की मेरी खिदमत करने की है मैंने अभी नहीं की तो ठीक है वो चीज नोट हो गई लेकिन जब मैं बाप बनूंगा और मेरी औलाद होगी अब उसके बाद उन औलादों में अल्लाह उसका बदला लेंगे उसके वक्त पर बदला होता है ऐसा नहीं होता कभी किसी ने गुना किया और अभी की अभी सजा हो जाएगी वो सारी बातें जमा होती है इसलिए आप अपने आप को बच्चे ना समझो आप जिन फिजाओं में अभी हो ना वो फिजाएं बहुत अच्छी थी पहले किसी जमाने में स्कूल की फिजा इतनी पाप होती थी आदमी का तरवा हो जाता था क्या हो जाता था बोलो अभी वो फिजाएं गंदी हो गई है स्कूल की फिजा कैसे हो गई है आलूदा हो गई गंदी हो गई कि आदमी का वहां बनना मुश्किल हो गया लेकिन जो मोहताज बच्चे होते हैं वो उन फिजाओं में बंद कराते हैं ये हम इसलिए आपको बुलाते हैं कि आप जाहिर हो जाओ आप बर्बाद ना हो जाओ आप जाए और बर्बाद न हो जाओ इसके लिए हम आपको बुलाते हैं तो उन फिजाओं में बर्बादी का स्वाद है लेकिन हमें बनना है तो कैसे बनेंगे तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रहे कि हम अल्लाह के जहन के साथ रहें कि मैं जो कुछ भी करूंगा मेरा अल्लाह मुझे देखता है और मेरे हर अच्छे बुरे को अल्लाह के वहां फरिश्ते नोट कर रहे हैं और मुझे उसका भुगतना पड़ेगा जिसके अंदर ये बात आएगी वो गलत जिंदगी पर नहीं जाएगा वो चौकना रहेगा जैसे किताबों में आया कि किसी ने गलत काम किया उसको वहां कोई पूछने वाला नहीं स्कूल के फिजा में गलत किसी के साथ बदनजरी की किसी के साथ बेहयाई का अमल किया ठीक है उसकी उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई लेकिन क्या रजिस्टर में खत्म हो गया क्या रजिस्टर में खत्म नहीं हुआ फिर अलमा ने लिखा है कि ये कर्जा है उसके माथे पर कर्जा उसने चढ़ा दिया उसके माथे पर अब इसको कर्जा चुकाना पड़ेगा तो कौन कर्जा चुकाएगा अभी इसमें आता है एफ टाइफ निशा तुम तुम अगर पाक नहीं रहे तो तुम्हारी औरतों को भी मुबतला कर दिया जाएगा का इसका कर्जा चढ़ा तो कर्जा कौन चुकाएगा तो इसका कर्जा चुकाया जाएगा या तो उसके बहन को अल्लाह उसी गुना में मुबतला करेंगे या उसके बेटी को अल्लाह उस गुना में मुबतला करेंगे या उसके माँ को अल्लाह उस गुना में मुबतला करेंगे मिटा नहीं दिया जाता तो मेरे जैसा कह सकता है कैसा तो हम बहुत सारी मरतबा करते हैं हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे हमने गलत काम किया हमारे गलत किए हुआ का किसी को नहीं पता चला हमारी औरतों का भी हमको पता नहीं चलेगा हमारी औरतें करेंगी हमें नहीं पता चलेगा जैसे हमारे गलत का हमारी औरतों को पता नहीं चलता ये अल्लाह की दुनिया है इंसाफ से चलती है अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करते अम्मा रब का बेपल्ला अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करते ये दुनिया में अल्लाह पाक हर एक को इंसाफ से मामला करते हैं अब आदमी गफलत के माहौल में इस जमाने में ये चुप जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है गफलत के माहौल में न करने की चीजें हो जाती है इसलिए अल्लाह के ध्यान के साथ अपने आप को जिला अल्लाह का ध्यान कैसे आएगा कि अल्लाह को ध्यान में लाने वाली मेहनत में लगे रहो अपने स्कूल के माहौल में वो अमाल के साथ आप पढ़ाई पढ़ो कि आपके अंदर अल्लाह का ध्यान आता रहे अल्लाह का ध्यान अल्लाह की अजमत की बातें सुना करो अपने मस्जिदों में तालीम हो ना अल्लाह की अजमत की वो पांच मिनट सुना करो दस मिनट सुना करो जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं वो हॉस्टल में पांच दस मिनट अल्लाह की अजमत की बात सुना करें नबी कैसे थे साहबा कैसे थे उनकी जिंदगी को सुना करो पांच सात मिनट हम चौबीस घंटे पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या बातें सुनते हैं जब हम हॉस्टेलों में और अपने स्कूलों में पांच सात मिनट की तालीम करेंगे ना तो उससे अल्लाह का ध्यान जिंदगी में बातें रहेगा एक तो अपनी मस्जिदों में अपनी हॉस्टलों में तालीम जहाँ हॉस्टेल है वहाँ पांच सात मिनट की तालीम करो ताकि अल्लाह की आत्मा अल्लाह का ध्यान बातें रहे फिर उसके साथ साथ अगर हॉस्टल में तुम नहीं रहते हो रोजाना पढ़कर घर आ जाते हो तो अपने इस गफलत के माहौल में हमने पांच सात घंटे गुजारे हैं अब कम से कम मस्जिद के माहौल में पांच सात मिनट तालीम में जरूर बैठो ताकि वो अल्लाह के मुसलमान कैसा होता है मुसलमान कैसा होता है वो सुनना है हमें मुसलमान कैसा होता है उसको सुनना है जब हम इसको बार बार सुनेंगे ना तो वो अजमत बाकी रहेगी तो एक बात तो ये अल्लाह के अजमत को सुना करो पढ़ाई के माहौल में दूसरा कोशिश करके अपने अपने अल्लाह की नाफरमानी न करो अल्लाह को नाराज न करो और अल्लाह का नाराज करने के अमल में एक तो न करने की चीजें करना है वो हमसे ना हो और करने की चीज हमसे छूटे नहीं करने की हमसे करने की चीजों में सबसे बड़ा अमल हमारा नमाज का है रिवायत और आता है कि जब आदमी नमाज छोड़ देता है तो शैतान उसको आसानी से लुकमा बना लेता है ईमान के बाद सबसे बड़ा अमल मोहतम शान अमल जो है वो नमाज का है कि जिसकी नमाज गिर गई मन महा फ़कद अकामद्दीन वमन हदमहा फ़कद हदमद्दीन के जो नमाज का छोड़ने वाला है वो पूरे दिन को बर्बाद कर देगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे नबी सलाम की बात का मफहम है कि जो नमाज को छोड़ने वाला होगा वो पूरे दिन को बर्बाद कर देगा तो ये ना समझे कि मैंने नमाज छोड़ दी तो मेरा क्या हुआ खाली नमाज छोड़ दी अब उसके लिए दूसरे गुना आसान हो जाएंगे जो बेनमाजी होगा दूसरे गुना आसानी से कर लेगा लेकिन जो नमाजी होगा वो दूसरे गुना नहीं करेगा इसलिए आप हजरात से दूसरी दरखास्त है कि अपनी मस्जिद के माहौल में अपने स्कूल के माहौल में नमाज कैसे के ना जाए वरना शैतान तुम्हें और पचास गुना करवाएगा कितने गुना करवाएगा बोलो पचास गुना करवाएगा तो स्कूल के माहौल में नमाज कैसे पढ़ोगे तो स्कूल के माहौल में स्कूल वालों को डिस्टर्ब करके नमाज नहीं पढ़नी तो कैसे पढ़नी है देखो अगर तुम स्कूल के माहौल में हो और बीच में स्कूल का वक्त हो गया नमाज का वक्त हो गया आपको रिसेस में छुट्टी मिलती है या छुट्टी का वक्त हो गया और उसके बाद नमाज का वक्त है फौरन नमाज शुरू कर दो वहां अपने अपने बस्तों में आदमी जरूरत की सारी चीजें लेकर जाता है अपनी बुक्स लेकर जाता है अपना नाश्ता लेकर जाता है अपनी जरूरत की चीजें एक मुसल्ला पतला से अपने बैग में रख दो सफर के मुसल्ले होते हैं और कोशिश करो कि वही नमाज आपकी हो क्यों आप लोग तो उन बस्तियों के बच्चे हो जिन बस्तियों में दीन है दीन की मेहनत है ऐसी बस्तियों के आप बच्चों आप नमाजी हो लेकिन आपके स्कूल में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे ऐसे गांवों के बच्चे हैं जिन गांवों में कोई अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला नहीं देहात है जहाँ मस्जिद नहीं है जहाँ मदरसा नहीं है ऐसे ऐसे देहातों के वहाँ बच्चे रहते हैं जब वो आपको नमाज में देखेंगे ना तो खुद ब खुद नमाज की तरफ आएंगे कि चलो हम भी नमाज पढ़े हम भी नमाज पढ़े तो आपकी नमाज पढ़ने की वजह से इज्तमाही तुम जब नमाज पढ़ोगे ना तो पचासों बच्चों को नमाज पढ़ने की हिम्मत आ जाएगी अकेले नमाज पढ़ाना बहुत आसान है लेकिन सबके लिए नमाज का माहौल हमें बनाना है आप तो दीन वाले हो दीन की मेहनत वाले हो तो आपके अंदर ये फिक्र है कि नमाज न छोटे लेकिन जो बच्चे दिन की मेहनत में नहीं लगे उनकी कौन फिक्र करेगा तो आप नमाज शुरू करो आपके देखा देखी पचासों बच्चे नमाज पढ़ेंगे हम लोग एक बार बैंगलोर जा रहे थे किसी काम से हवाई अड्डे पर उतरे हमारी मगरब की नमाज जा रही थी नहीं दहली जा रहे थे दहली अलमान हसन साहब का इंतकाल हो गया था जनाजे में हम लोग जा रहे थे तो मगरब देर से हमारी हो गई हमने वही फटाफट नमाज शुरू की तो बहुत सारी जहाज में बहुत सारी जगह से नमाज के लिए आ रही थी तो मुसलमान बहुत सारे एयरपोर्ट पर खड़े थे लेकिन नमाज कहाँ पढ़े हमारी नमाज शुरू होती है हमने देखा पीछे ओ हो हो हो एयरपोर्ट पर इतनी लंबी अंदर के अंदर कि सबको हिम्मत आ गई कि नमाज हम भी पढ़ सकते हैं कोई मुश्किल नहीं होता तो आप हजरा इसकी फिक्र करें कि हमारी नमाज इस माहौल में न जाए वरना जिसने नमाज को जाय कर दिया वो अल्लाह के दिन को गिराने वाला है तो आप अपनी पढ़ाई के साथ इसकी हिफाजत करो आप अपने स्कूल के हॉस्टल में नमाज आपकी पाबंदी से हो जाएगी और जमात से नमाज पढ़ो अब जमात से नमाज पढ़ने के लिए स्कूल वालों से ना पूछो अगर उनसे आपने पूछा उन्होंने मना कर दिया तो आप स्कूल के कानून के खिलाफ करने वाले होंगे और हमें किसी स्कूल में स्कूल के कानून के खिलाफ कोई चीज नहीं करनी हाँ बगैर पूछे शुरू कर दोगे वो खुद ही अंजाम बन जाएंगे और तुम्हें इजाजत दे देंगे स्कूल की छत पर पढ़ लो अपने दर्जे में पढ़ लो या गार्डन में पढ़ लो कहीं भी पढ़ लो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा लेकिन पूछने जाओगे तो मना कर दिया फिर पढ़ोगे तुम मुजरिम बन जाओगे इसलिए हमारी नमाज नहीं जाएगी ये दूसरा काम है तीसरा काम अपने स्कूल के माहौल में अच्छे माहौल को बनाने के लिए क्या करोगे कि अपना मुसलमान बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई होते हैं वो हमारे भाई हैं वो पराये नहीं है अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मामिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है तो अपने भाई के लिए हम क्या पसंद अपने लिए जो पसंद करते हैं कि हमें अच्छा पढ़ना मिले अच्छा जीना मिले तो अपने भाई के लिए भी पसंद करेंगे अब लेकिन वो ऐसी गांव और ऐसी बस्तियों के बच्चे हैं आपकी क्लास में कि जहाँ कोई दिन की मेहनत नहीं है कोई उनको उजागर करने वाला नहीं है आपके जिम्मे है आप भी हजूर के उम्मती हो आपने कलमा पढ़ा है आप हजूर के उम्मती हो एक एक उम्मती की फिक्र आपके जिम्मे तो आप क्या करो आप क्या करो उस बच्चों के लिए दस मिनट रोजाना निकालो उन बच्चों के लिए कितने मिनट खाली बोलो दस मिनट निकालो उस दस मिनट में क्या करो उस बच्चों से दोस्ती करो जो बेचारे गांवों के हैं देहातों के हैं बेटी में उनसे दोस्ती करने के लिए दस मिनट निकालो कितने मिनट बोलो दस मिनट निकालो या तो स्कूल शुरू होने से पहले के टाइम में या रिसेस में या छुट्टी के बाद दस मिनट निकालो और उन बच्चों को टारगेट बनाओ दसवीं क्लास के बच्चों को पता है मेरे क्लास में कौन से मुसलमान बच्चे हैं ग्यारहवीं वालों को पता है हमारे क्लास में कौन बच्चे हैं बारहवीं वालों को हर क्लास वालों को अपने क्लास के बच्चों को पता है और ये भी पता है कि कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो क्या करो उस दस मिनट में उससे दोस्ती करो क्या करो बोलो उस दस मिनट में उनसे दोस्ती करो उसके कंधे पर हाथ रखो प्यार मोहब्बत से दोस्ती करके उसको अपना बना लो हाँ दोस्ती करो और हमारा टारगेट क्या है कि मुझे इस बच्चे से दोस्ती करनी है और उसको दीन वाला बनाना है कैसा बनाना है बोलो दीन वाला बनाना है अच्छे अमाल वाला इसको बनाना है इसके लिए मुझे दोस्ती करनी है इसके लिए पहले दिन हम और बातों की बात करेंगे आमा की बात करेंगे तो हो सकता है उसको बोझ पड़े लेकिन उसको दोस्ती करो दोस्ती करने के लिए क्या करो अपने जेब के पैसे इन पर लगाओ अपने घर से पैसे मत मांगो भाई मुझे अब्बा ने पचास रुपए आज इस्तेमाल के दिए बीस रुपए दिए तीस रुपए दिए दो रुपए की चाय उस बच्चे को पिलाओ कितने रुपए की बोलो वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा हमारे नबी सबको अपनी बात समझाने के लिए दोस्त बनाते थे हुजूर के हर साहबी ये कहते हैं हुजूर अलीसलाम के हर साहबी कि हुजूर मुझे सबसे ज्यादा चाहते थे हुजूर ऐसा प्यार लोगों को देते थे प्यार देना बड़ी बात है प्यार आज खत्म हो गया इन बच्चों को हम प्यार दे भाई हरियत से तबियत ठीक है यूँ करके इससे प्यार मोहब्बत से बात करो ये बेचारे लावारिस है देहातों के आपके आप, आपके यहाँ कितने देहात है उसमें मुसलमान रहता है और ऐसे ऐसे देहात के जहाँ मस्जिद है न मदरसा है ऐसे कॉलेजों के और ऐसे स्कूल के बच्चे ऐसे गांवों के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने आते हैं उसकी कौन फिक्र करेगा और उसकी फिक्र हम लोग करेंगे वो हमारे भाई हैं तो उसके फिक्र में हम लोगों को क्या करना है तो उस बच्चे को टारगेट बनाओगे बेचारा बच्चा जाय हो जाएगा चलाओ ना उससे दोस्ती करो दो दिन दोस्ती उसको करो दो तीन चार दिन चाय चाय पिलाओ फिर प्यार मोहब्बत से उसकी पढ़ाई की खैरियत पूछो कैसी पढ़ाई चल रही है वो पूछो और भाई भाई थोड़ी देर बैठ जाओ ऐसा उसकी पढ़ाई की खैरियत पूछो पढ़ाई की खैरियत पूछने के बाद उसको अमल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मुतवजह करो अमल में सबसे पहला अमल हमारे वहाँ मस्जिद में नमाज का होता है वहाँ इदार हॉस्टल में उसको कहो भाई नमाज पढ़ते हैं अभी नमाज में आ जाओ किताबों में आता है अलमर व अब्दुल एहसान आदमी एहसान का गुलाम होता है तुमने उस पर कुछ खर्च किया है वो तुम्हारी बात रद्द नहीं करेगा तुम्हारी उससे दोस्ती हो गई है आदमी दोस्ती में पता नहीं क्या क्या कर देता है घर छोड़ देता है दोस्ती में आप देखो दुनिया में लोगों को दोस्ती हो जाती है लड़के लड़की को तो घर छोड़ देता है धर्म भी छोड़ देता है मैं हंसने की बात नहीं कह रहा हूँ इबरत की बात कह रहा हूँ कि दोस्ती में आदमी बड़े बड़े का हजरत उस्मान रजी अल्लाह फरमाते हैं मुझे मुसलमान नहीं होना था मैं मुसलमान होने नहीं चाहता था लेकिन मोहम्मद वसल्लम की दोस्ती में मुसलमान में हो गया उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी कि मुझे दोस्ती में ही करना पड़ा तो दोस्ती में आदमी माँ बाप का नाफरमान दोस्त की वजह से माँ बाप की नाफरमानी करता है बोलो नहीं करता सगे माँ बाप की नाफरमानी दोस्ती की वजह से करता है हम उन बच्चों को दोस्त बना ले अल्लाह के लिए किसके लिए बोलो दस मिनट उन पर लगाए दोस्ती करें और दोस्ती करके उनको नमाज पर लाए नमाज पर आए उनको फिर अल्लाह रसूल की बात सुनाओ ये जो जो जो, जो अल्लाह रसूल की बात सुनाना है ये जो फजाइल की किताब है ना फजाइल अमल फजाइल सदकर इसमें पांच किस्म की हजूर की उम्मत में पांच चीजें हैं ईमानियात इबादत मामलात माशरत और अखलाक ये पांच चीजें आदमी के मुकम्मल हो तो दिन मुकम्मल होता है पांच चीजें ये मशवरे से पांच चीजों का इसमें दिन लिखा है ईमानियात भी किया ईमान नमाज रोजा जक़ात और हज फिर उसके बाद मामला माशरत और अखलाकियात ये हमारे बच्चे सुनेंगे ना तो उनके अंदर खुद बखुद अपने दीन को अच्छा बनाने के जज्बे बनते हैं फिर उसके बाद आगे का दिन वो और और ओलमा से सीखेंगे लेकिन इनके अंदर तलब पैदा कर दो तलब हम रमजान में थे जमात में तो स्टूडेंट की जमात हमने वसूल की तो उसको उनके मस्जिद के साथियों से हमने कहा कि इनको जमात लेकर जाओ इनको कोई अमीर दोस्त तो कहा नहीं ये तो बहुत बड़ी बला है हम इनको नहीं लेकर जाएंगे हमारे मोहल्ले के बहुत खतरनाक के बच्चे हैं तो हमारी जमात में एक डॉक्टर थे और एक और कोई थे स्कूल पढ़ाते थे कॉलेज वॉलेज पढ़ाते थे लेक्चर देते थे वो दो थे हमने कहा जाओ तुम लेकर चले जाओ वो दो लेकर आए जमात तीन दिन जाकर मैंने पूछा कैसे रही तो बच्चे बर्जस्ता कहने लगे माली साहब हम तोबा करके आए हैं भाई किससे तोबा की तो हम अपने माँ बाप के बहुत नाफरमान थे लेकिन जब अगले साहब ने तीन दिन हमको माँ बाप के फजाइल सुनाए माँ बाप की असमत सुनाई तो हमें एहसास हुआ हमने वही सामने अब्बा को फोन किया कि हमारी तुमसे गुस्ताखी हुई है हमने तुम्हारी बहुत गुस्सा हमें माफ कर दो और साहब हम आपके सामने भी कहते हैं कि हम माफी मांगते हैं कि ये सुनाना जाया नहीं जाएगा उन बच्चों को अल्लाह रसूल की बात सुनाने पर लाएं तो नमाज पर लाएं उनको अल्लाह रसूल की बात सुनाएं फिर अल्लाह आपको हिम्मत दे उन बच्चों को ये बच्चे पूरे हफ्ते में लायानी सुनते हैं इधर उधर की लायानी की बातें सुनते हैं कम से कम हफ्ते में एक मरतबा वो अल्लाह रसोई की बात तो सुने इसके लिए हमारे हमारे वहाँ हमारे माहौल में मस्जिदों में गश्त होते हैं गश्त के बाद ईमान अमल की बात होती है हफ्तावारी इज्तमे होते हैं जैसे आपके यहाँ जकरिया मस्जिद में होता है उन बच्चों की तश्ल करो भाई आप वहाँ प्रोग्राम में आओ कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो अल्लाह रसूल की बात सुने पूरा हफ्ता एक घंटे एक हफ्ते में होते हैं एक घंटे वो इधर उधर की बातें सुनता है तो कम से कम ये अल्लाह का बंदा हफ्ते में एक मरतबा तो अल्लाह रसूल की बात सुने तो खुद भी अल्लाह रसूल की बात सुनाने के लिए अपने आप को उस माहौल में लाओ कि जिसमें अल्लाह रसूल की बात सुनना मिले और उन बच्चों की भी प्यार मोहब्बत से तश्किल करो कि वो बच्चे भी प्यार मोहब्बत से उस माहौल में आए उन बच्चों को हफ्ता और इज्तिमा में लेकर आओ वो बच्चों की अगर आपने हिफाजत कर ली तो ये बच्चे अच्छी तरह अच्छी तरह पाबंद बनकर पढ़ने वाले बन जाएंगे अल्लाह की नाफरमानी छोड़ेंगे अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ पढ़ने वाले बन जाएंगे इसलिए तीसरी तश्किल एक तो नमाज की तश्किल करो तालीम की तश्किल करो इनकी और तीसरी तश्किल ये हफ्ते में एक मरतबा अपनी मस्जिद में अगर उसके मोहल्ले में जमात जाती है तबलीग का काम हो रहा है वो दिन के प्रोग्राम में शरीक हो जितना उससे हो सकता है उसमें शरीक हो कम से कम कुछ काम पर उसके अल्लाह रसूल की बात तो पढ़े हफ्ता वाली इज्तम में ही आए तो उसके काम पर अल्लाह रसूल की बात तो पढ़े अगर ये कहीं अल्लाह रसूल की बात ही नहीं सुनेगा तो फिर मार्केट में जो बातें होगी ऐसी बातें सुनेगा और मार्केट में तो भाई गुनाहों की बातें हैं हमारे बच्चों को हमें आखिरत सुनानी पड़ेगी इसलिए इसकी तश्ल हमें करनी करोगे इसके फिक्र इंशाला ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा तुम किसी के सर पर हाथ रखोगे ना अल्लाह तुम्हारे सर पर हाथ रखने वाले पैदा करेंगे तुम किसी की उंगली पकड़ोगे अल्लाह तुम्हारी उंगली पकड़ने वाले पैदा करेंगे हर जजा उल एहसान इल्ल एहसान एहसान का बदला एहसान से मिलेगा एहसान का बदला किससे मिलेगा बोलो तुम किसी के साथ हम किसी से आप जनाब से बात करेंगे वो भी आप जनाब से बात करेगा मैं किसी को अबे तुम्हें से बात करूंगा वो भी अबे तुम्हें से बात करेगा हम किसी को एहसान करेंगे अल्लाह हमारे औलादों पर और हम पर एहसान करने वाले लोग पैदा करेंगे ये ये हुजूर की उम्मत बहुत काबिल रहम है ये ज़ाय हो रही है बर्बाद हो रही है उनके सरों पर हाथ रखने की जरूरत है अगर आप इनके सरों पर हाथ रखोगे तो फितनों के जमाने में अल्लाह तुम्हारी औलादों को संभलने वाले लोग पैदा कर देंगे अल्लाह तुम्हारे संभलने के सब पैदा कर देंगे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं एहसान का बदला एहसान होता है हल जजा उल एहसान एहसान एहसान का बदला मतलब एहसान से होता है इसलिए इन बच्चों को इन अमल पर लाने के लिए उनसे स्कूल में दोस्ती दस मिनट फारिश करो कितने मिनट बोलो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो बच्चे हॉस्टल में मशवरा करें तो हमारे हॉस्टल में इतने मुसलमान बच्चे रहते हैं वो वो इस माहौल में कैसे आ जाए उसके लिए मुलाकातों का निजाम बनाओ लेकिन तुम पढ़ने के लिए गए हो हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए हो तो पढ़ने पर असर ना पड़े तुम्हारा पढ़ना मुकदम है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे पैसा खर्च करते हैं वो पता नहीं कैसे पैसा खर्च करते होंगे उनसे पूछो कितनी मेहनत से तुम मेहनत करके तुम्हें पैसे भेजते हैं तो पढ़ाई में कमी ना हो तो इसके लिए सिर्फ दस मिनट कितने मिनट बढ़ो दस मिनट आपस में मशवरा करो और कि ये मुसलमान फला कमरे का ये मुसलमान फला वो बेचारा गुनाहों में है लायानी में है वो बेचारा भलाई पर कैसे आ जाए उन बातों का मशवरा करो अपने हॉस्टल में और मशवरा करके उनसे मुलाकात का तरतीब बनाओ और मुलाकात की तरतीब बनाकर उनको अमाल में जोड़ने की फिक्र करो तो हॉस्टल में रहने वालों के लिए एक रोजाना मशवरा करो पांच मिनट का मशवरा और दस मिनट उस मुसलमान बच्चे के लिए वक्त निकालो दस मिनट वरना जाहिर हम आपके यही विद्यानगर में एक मतलब आए थे अक्सर बहुत सालों आना हुआ यहाँ विद्यानगर में एक एक प्रोफेसर से मिलने के लिए गए तो रमजान का शायद महीना था रमजान का उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दी और ये कहकर आवाज दी मीना यूं करके आवाज दी तो हमें बहुत ताजुब हुआ कि उसकी बेटी मीना है तो पूछे हमने बातों बातों में पूछा कि और कितनी औलाद है तो एक दो बेटियां एक मीना है और एक दीना है उनके घर के आगे वो दिवाली के फूल नहीं बनाते दिवाली में ऐसे बने हुए थे हम बहुत ताजुब करने लगे कि अल्लाह ये मुसलमान है और किसी स्टेट के थे वो तो हमने उनसे पूछा क्यों आप ऐसा कर रहे हो तो हमें गैर मुस्लिमों के साथ रहना है तो हम मुसलमान नहीं रह सकते मुसलमान बनकर इसलिए हम ऐसे बनावट हमने किया ये बच्चों का नाम आपने मीना और दीना रखा है ये कैसे भाई अभी मैंने मीना और दीना रखा है जब अपने गांव जाऊंगा तो मीना को अमीना कर दूंगा और दीना को मदीना कर दूंगा उसने सुना हमने उनसे बलचस्ता ये बात कही हंसने की बात नहीं कह रहा हूँ हमने उनसे कहा कि साहब ये बच्चियां अभी तक इस गैरों के माहौल में पलती है और आपने उसको गैर मुस्लिमों का कल्चर और माहौल दिया है ये जब तक मीना आमीना जैसी रहेगी तो तुम आमीना करोगे ना तब तक वो मीना जैसी हो जाएगी आमीना कैसे बना दोगे वो दीना दीना जैसी हो जाएगी उसको तुम मदीना कैसे बना दोगे तुम बच्चों से मिलोगे ना तो पता नहीं कैसी कैसी ये मैं आपके प्रोफेसर की यहाँ के पास सुना रहा हूँ यहाँ आपके विद्यानगर का प्रोफेसर पता नहीं ऐसे तो यह कितनी कॉलेज हैं और कितने बच्चे हैं और कैसे कैसे गलत सोच में वो मुबतला हो चुके हैं वो काबिल रहम मजमा है हमारे नबी सलाम ने हर मुसलमान को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह के दिन की मदद करो ये अल्लाह के दिन की मदद है अल्लाह के बदले अल्लाह की तरफ जुड़े अल्लाह से जुड़े हमारे नबी ने जिंदगी भर ये मेहनत की और हजतुलवदा वदा में इसका पैगाम दिया कि हर मेरा मानने वाला इसका काम करेगा इसके लिए क्या करना इन बच्चों के लिए रोजाना हॉस्टल में दस पाँच मिनट मशवरा करो दस मिनट उनके लिए फारिज करके इनकी मुलाकातों का निजाम बनाओ अपने नमाज पर इनको लाओ अपने अपने जकरिया मस्जिद के हफ्तावार इज्तिमा में इनको लाओ और जो बच्चे घरों को चले जाते हैं जिनके हॉस्टल नहीं है वो अपने बच्चों पर यह मेहनत करें कि अपनी मस्जिद की तालीम में जुड़ें अपने मस्जिद के गश्त में वो बच्चे जुड़ें इसकी इनको फिक्र करो और फिर अल्लाह आपको हिम्मत दे छुट्टियों के जमाने में अपने 24 घंटे की जमात बनाओ अगर तुम्हारे तीन दिन फाड़े होते हैं देखो 27 दिन 27 दिन तुम इस गफलत के माहौल में होते हो तो 27 दिन गफलत के माहौल में रहकर कम से कम ईमान आखिरत हमारा ताज़ा हो जाए किताबों में आता है अपने ईमान को ताज़ा करो वरना ये ईमान ऐसे मेला हो जाता है जैसे कपड़े मेले हो जाते हैं कपड़े मेले होते हैं ऐसे ईमान मेला होता है और जब ईमान मेला हो जाएगा तो उसमें भी बदबू आएगी जैसे कपड़े बदबू आती है भाई मेले कपड़ों में क्या आती है खुशबू या बदबू जब मेले कपड़ों में बदबू आती है बासी खाने में बदबू आती है मेले मुसलमान में बदबू आएगी भाई वो क्या बदबू होगी कि उसकी आंखें गंदी हो जाएगी ईमान की कमजोरी से आंखें गंदी हो जाएगी जबान गंदी हो जाएगी दिमाग का सोच गंदा हो जाएगा हाथ पैर का इस्तेमाल गंदा हो जाएगा अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमारे पास ऐसा ईमान लेकर आओ जिसमें बदबू ना आए लंगल बेसू ईमान हम गुनाहों वाला ईमान लेकर ना आओ इसको ताजा करते रहो वरना ये मेला हो जाता है ये ईमान के बोल बोलो ईमान के आखरत को सुनो ईमान को और आखरत को इसके लिए आप कोशिश करो अगर आपकी छुट्टी मिलती हो आपको तो तीन दिन अल्लाह के रास्ते में जाओ महीने में तीन दिन की छुट्टी नहीं है पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो पढ़ाई को डिस्टर्ब करके जमात में न जाओ दो दिन की छुट्टी हो तो दो दिन जाओ दो दिन की भी छुट्टी नहीं है तो पढ़ाई को डिस्टर्ब न करो एक दिन जाओ चौबीस घंटे संडे को छुट्टी मिलती है चौबीस घंटे की जमात में जाओ लेकिन लगे रहो भाई गाड़ी में हम बैठ गए धीमी गति की गाड़ी है और धीमी गति की गाड़ी में बैठ गए तो धीमी गति की गाड़ी जब भी स्टेशन पहुंचेगी तो हम भी कहाँ पहुंचेंगे अगर बैठ गए हैं तो गाड़ी में ही नहीं बैठे तो तो धीमी गति की गाड़ी में बैठ जाए वो गाड़ी जब वहां मंजिल पर पहुंचेगी हम भी मंजिल पर मुंबई में ऐलान होता है धीमी गति की गाड़ी और फास्ट गति ये होता है ना तेज गति की और तो हम धीमी गति तो धीमी गति गाड़ी में बैठ जाए हम संभल जाएंगे वरना इसमें हजारों बच्चे बर्बाद हो जाते हैं लाखों बच्चे बर्बाद हो जाते हैं आप स्कूलों के माहौल को देखें हॉस्टलों के माहौल को देखें मुसलमान बच्चों का महफूज होना मुश्किल बच्चों का महफूज होना मुश्किल इसलिए अपने आप को तबलीग की मेहनत में लगाओ चौबीस घंटे तो चौबीस घंटे फिर अल्लाह आपको हिम्मत दे दस दिन की छुट्टियां हो दस दिन जाओ इसको जाहिर ना करो किताबों में लिखा जो आदमी वक्त को जाय करता है वक्त भी उसको जाय कर देता है कि हमने वक्त को जाय किया वक्त भी हमको बर्बाद कर देगा जो आदमी वक्त को बर्बाद कर देता है वक्त भी उसको बर्बाद कर देता है दस दिन की छुट्टियां उसको बर्बाद न करो अपनी दस दिन के स्टूडेंट की जमात बनाओ दूसरे गांव में जाओ वहां जाकर वहां इसी तरह मुसलमान रहते उन पर मेहनत करो अल्लाह हिम्मत दे चालीस दिन की छुट्टी हो चालीस दिन जाओ और जब तुम्हारी फरारत हो जाए पढ़ाई के बाद तो फरारत के बाद सबसे पहले इन बातों को अच्छी तरह सीखो फिर अपने जॉब वर्क में जाओ जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ अमानतदारी सीखो दयानतदारी सीखो दीनदारी सीखो <laughs> दीन का पाबंद बनना सीखो वरना क्या करोगे छोटी छोटी बात में जबान बेच दोगे वकील जबान बेच देता है हराम की बोल बोलता है डॉक्टर जबान बेच देता है कलम बेच देता है हाँ तो हम हमारे अंदर जब अमानतदारी दयानतदारी नहीं होगी ना हम वकील बन जाएंगे लेकिन इस्लाम हमारे पास नहीं होगा हम डॉक्टर बन जाएंगे इस्लाम नहीं होगा और इस बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद बन जाएंगे लेकिन दयानतदारी और ईमानदारी नहीं होगी हयानत हमारे अंदर होगी कमाई भी हराम हो जाएगी कमाइयों के नक्शे हराम होंगे और दूसरा अल्लाह की निगाहों से गिर जाएंगे इसलिए इन अमल को सीख कर चार चार महीने लगाओ बार बार और अमल में अल्लाह के रास्ते में निकल कर इसको सुनो और इसको सीखो तो पढ़ने के जमाने में इस मेहनत के साथ और अच्छा पढ़ो अच्छा पढ़ो अच्छा आपके माँ बाप आपके पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं इन उन माँ बाप से पूछना उनको आपसे तमन्ना है आरजू है एक उम्मीद है हमारा बेटा पढ़कर हमारी जिंदगी का सहारा बने अब हमारे बच्चे और अब अब हमारा कोई रणी भाई स्कूल में नहीं होता तो हम उन पैसों को उड़ा देते हैं और लाया नहीं करते हैं पढ़ने के उन्मान से पढ़ते नहीं है तो ये हमारे माँ बाप से जाकर जरा पूछो कि बूढ़े माँ बाप किस किस किसी ने जमीन बेची होती है किसी ने जेवर बेचे होते हैं और हमारी फीस भरते हैं वो बेचारे माँ बाप हमको तो पैसे मिल गए हमको पैसे नजर आए लेकिन पीछे देखो उन माँ बाप ने पैसे कैसे भेजे हैं पैसे कैसे भेजते हैं बड़ी बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती है पैसों में इसलिए उनको राय न करो खुद अच्छे अच्छी से पढ़ाए हमारी क्लासें हो उसको अटेंड करो हमारी गैर हाजिरी ना हो और अपने स्कूल में अपने उस्तादों का अदब करो उस्तादों के साथ बदतमीजी न करो अगर उस्तादों के साथ बदतमीजी करोगे कभी इल्म नहीं आएगा उस्ताद उस्ताद है हजरत अली फरमाते हैं जो मुझे एक जुमला सिखा दे उसका मैं गुलाम हूँ चाहे वो मुझे बेच दे चाहे मुझे आजाद कर दे अपने उस्तादों के साथ बदतमीजी ना करो न उनके पीठ के पीछे बदतमीजी करो न उनके सामने उनके बदतमीजी करो उन क्लासों का एहतराम करो जिन क्लासों से तुम्हें इल्म मिल रहा है लोग लुच्चे लफंगी की जिंदगी में गुजारे ठीक है हमें तो इस दर्जे से इल्म मिला है हम उन क्लासों की अजमत करेंगे उन किताबों की अजमत करेंगे हम उन उन बेंचेसों की अजमत करेंगे जिस पर बैठकर हमने इल्म सिखाया तो ये इल्म यहाँ मिल रहा है हमारे उस्तादों की हम अजमत करेंगे हमारे बाद उस्ताद वो आपके हॉस्टल में होंगे जो आप जिनसे आप नहीं पढ़ते हो लेकिन वो उस हॉस्टल के उस्ताद हैं उनकी अजमत करो उनकी कदर करो उनको इज्जत की निगम से देखो उनके जरिए से तुम्हें इल्म मिल रहा है इसको अच्छा इसलिए अच्छा पढ़ाई पढ़ो और स्कूल में अगर हमारे दोस्त कम पढ़ाई में सुस्ती करें हमें पता चले कि ये फला गांव का बच्चा है फला मोहल्ले का बच्चा है वो सुस्ती करता है इंफरादी में इससे दोस्ती करो और उसको तरजीब दो भाई हम स्कूल में आ रहे हैं तुम्हारे माँ बाप पैसे खर्च करते हैं तुम तुम सब्जेक्ट में फला सब्जेक्ट में तुम कमजोर पढ़ रहे हो तुम फला की घंटी नहीं भरते हो घंटी होती है ना एक एक क्लास एक एक घंटे की गद्दी होती है अब तो हम तो घंटी कहते थे आप पता नहीं क्या कहते हो तो हाँ और पता नहीं जो भी कहते हो आप तो उसमें तुम नहीं आते हो उसका जहन बनाओ कि भाई तुम उसमें हाजिर दो तुम्हारा फला सब्जेक्ट कमजोर है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यूँ इसका इतना जहन बनाओ कि अगर हमारे क्लास में कोई कमजोर बच्चा है तो अपनी पढ़ाई की फिक्र करने वाला बन जाए ताकि जिस दिन हम हमारी पढ़ाई पूरी हो हम पढ़ने वाले भी अच्छे हों और अच्छे बने हुए इंसान हों हमारे अंदर अमानतदारी हो दयारतदारी हो अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए और अल्लाह का नबी भी खुश हो जाए अगर इन अमाल के साथ हम परवान चढ़ गए ना अल्लाह के रहम करम में हम आ जाएंगे और अगर बड़े तो हो गए लेकिन घड़तर नहीं हुआ भड़तर और घड़तर दो साथ में होता है अगर भड़तर हो गया घड़तर नहीं हुआ हम बोली बोलेंगे ना बोली कुत्ता काट बोली बोलेंगे हमारी बोली से लोगों के दिल टूट जाएंगे हम ढेला मार बोली बोलेंगे हम हम हम अपनी हमारी कमाई के नक्शों को हराम कर देंगे हमारी कमाई के नक्शों में हराम घुस जाएगी हाँ अब उस्ताद में बन गया एक घंटा मुझे पढ़ाना है मैं पचास मिनट पढ़ा रहा हूँ दस मिनट की तनख्वाह देने ऊपर फंस जा एक घंटे का एक घंटा पढ़ाना था पचास मिनट मैंने पढ़ाया चालीस मिनट मैंने पढ़ाया और पगार ले रहा हूँ पूरे घंटे का तो बीस मिनट का मैंने पढ़ाया नहीं कैसे मैं पगार ले रहा हूँ कस्टमर मेरे पास मेरे पास पेशेंट आ गया मैं उसके साथ पैसों का खेल खेल रहा हूँ तो मेरी कमाई हराम हो जाएगी मेरे पास मेरे पास कस्टमर आए मैं वकील हूँ अब मैं जो पैसे ज्यादा दे रहे हैं उसका केस लड़ रहा हूँ वो चाहे जो हक पर हो या ना हक पर हो मैं अपने बच्चों को हराम की गजा खिला रहा हूँ और जिन जिनके पेट में हराम की गजा गई उसकी तो नस्ल को आग लग जाती है अल्लाह ने कुरान में फरमाया अरे नबियों की जमात हलाल गजा खाओ कुलो मिनत ये बात अमल साल हलाल खाओगे ना तो हलाल जज्बात बनेंगे हदीस में आता है कि जिसका जिसम हराम माल से बनता है ना उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई है जहन्नम बस वो मरे इतनी देर है सीधा जहन्नम में जाएगा हलाल कौन करेगा जो अच्छी परवरिश परवरिश पाया होगा अच्छा परवान चढ़ा होगा वो हलाल करेगा हराम करने वाला नहीं कर सकता और गलत गजा खाकर अच्छा बन नहीं सकता गलत गजा खाकर भाई चाय होती है गर्म उसके ऊपर धुआं उठता है गर्म होता है ठंडा होता है अरे बोलो कौन सा उठता है गर्म गर्म चाय का धुआं गर्म बर्फ होती है ठंडी उसमें से भाप उठती है तो भाप भाप गर्म होती है ठंडी होती है वो गर्म बर्फ की भाप ठंडी गर्म चाय की भाप गर्म हलाल गजा जाएगी ना तो उससे जज्बात भी हलाल बनेंगे और इस पेट में हराम की गजा चली गई नहीं हराम की तो उससे जो जज्बात बनेंगे वो भी गंदे बनेंगे अल्लाह आप सबको बचा ले इसके लिए ये मुबारक मेहनत के रास्ते से आपकी हमदर्दी चाहते हैं आप हमारे भाई हो हम आपके भाई हैं हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको दुनिया में भी खुशहाल रखे और आप मरने के बाद भी खुशहाल रहो इसके लिए काम का नक्शा है कि अपनी मस्जिदों में जुड़ो अपनी मस्जिदों के गश्तों में और अपने स्कूल में मेहनत के साथ पढ़ो अच्छे बनो अच्छे पढ़ो और अच्छे परवान चढ़ो इसके लिए मोटे मोटे अमाल है अल्लाह के साथ शिरक न करो हम शिरक नहीं करेंगे अल्लाह शिरक को पसंद नहीं करते नमाज हमारी स्कूल के माहौल में में न छोटे उसके लिए अपनी नमाजों का अहतमाम और तीसरी बात अपनी ईमान आखरत को सुनने के लिए जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं रोजाना तालीम थोड़ी देर करो और चौथी बात अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दस मिनट फारिश करके उन बच्चों पर मेहनत करो और पांचवी बात उन बच्चों को माहौल में लाओ माहौल उन बच्चों को मिलेगा माहौल इनको बना देगा इसके लिए उनको कहो अपनी मस्जिद के गश्तों के माहौल में जुड़े अपने जकरिया मस्जिद में हफ्तावार इज्तिमा होता है उस माहौल में वो जुड़े उन बच्चों को माहौल में लाने की मेहनत करो जो बच्चे इस हॉस्टल में नहीं पढ़ते घरों को चले जाते हैं वो अपनी मस्जिद के माहौल में जुड़े अपनी मस्जिद और जमात में जुड़े और अपनी फिक्रों को दीनी फिक्र बनाए और अपनी मस्जिद की तालीम में जुड़े और अल्लाह आपको हिम्मत दे अपने मोहल्ले में और बच्चे उनके अपनी मस्जिद और जमात के साथियों के साथ रहकर मुलाकातें करें उसके साथ साथ अल्लाह आपको हिम्मत दे पढ़ाई के साथ तीन दिन की छुट्टी मिले ये ईमान आखिर को ताजा करने के लिए तीन दिन अल्लाह के रास्ते में जाओ तीन दिन का मौका नहीं है दो दिन की छुट्टी है दो दिन जाओ दो दिन की छुट्टी नहीं है एक दिन जाओ लेकिन जरूर जाओ फिर लंबी छुट्टियां हो तो दस दिन की छुट्टी हो दस दिन जाओ बीस दिन की छुट्टी है बीस दिन जाओ चालीस दिन की छुट्टी है चालीस दिन जाओ और जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए ना तो जॉब और सर्विस शुरू करने से पहले ये अमानतदारी दयानतदारी हमें सीखनी है ताकि मैं भला मानस बनकर नौकरी कर सकूं इसके लिए अपनी सर्विस के बाद चार चार दिन अल्लाह के रास्ते रास्ते में जाकर अपने दीन को अपने ईमान को अच्छा बनाओ फिर अपने अपने शोबों में नौकरी पर चले जाओ ताकि तुम भले रहो तुम परवान चढ़ो और अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे करोगे इनशाला सब करोगे इनशाला चलता है हम करेंगे तो इसमें इस वजह में कौन कौन है जो W W com the reviver of